उमड़ खुमड़ कर छाए बादल रिम हिम जल बरसाए ओले आते बोल बावरी काहे को अलसाए घुमड़ घुमड़ कर छाए बादल रिम हिम जल बरसाए ओले आती बोल बावरी काहे को अलसाए घुमड़ घुमड़ कर छाए बादल रिम हिम जल बरसाए सी बोल बावरी काहे को सायो भीजे पात हरे सगरे हैं भीजे पात हरे सगरे हैं फूल मगन कलियां मुस्काए बरखा के संग नाच बावरी बरखा के संग नाच बावरी काहे को शर्माए घुमड़ घुमड़ कर बादल रिम रिम जल बरसाए छपक छपाक गूंज सरगम सी छपक छपाक गूंज सरगम सी बूंदे छम छम गाए झूम पवन संग आज पावरी झूम पवन संग आज पावरी काहे को घबराए उमड़ घुमड़ कर छाए बादल रिम झिम जल बरसाए भरते सूखे नदी ताल सब भरते सूखे नदी ताल सब देख देख कुदरत हर्षाए रब से तू भी मांग पावरी क्या रब से तू भी मांग पावरी परदेसी लौटाए रब से तू ही मांग पावरी कर देती लौटाए घुमड़ घुमड़ कर छाए बादल रिमझिम जल बरसाए घुमड़ घुमड़ कर छाए बादल रिमझिम जल बरसाए हाँ रिमझिम जल बरसाए